ध्वनि ओ जिज्ञासा समाधान में आज अवकाश की आशा थी आप लोगों को हम्म? अवकाश की आशा थी निराशा कौन बोल रहे निराशा निराशा या आशंका तो अवकाश की आशंका तो अवकाश और आकाश है इनका प्रश्न आकाश का बहुत दिनों से रुका हुआ है है तो सैद्धांतिक विषय तो लेकिन है विवादास्पद काफी और आकाश की सैद्धांतिक चर्चा सुन के आपको निराशा हो जाए तो बात अलग है हम्म? नहीं अवकाश तो नहीं होगा <laughs> कुछ लोग कहते हैं कि आकाश अवकाश है कुछ लोग कहते हैं कि आकाश अवकाश है लेकिन मैं आकाश को अवकाश बता ही नहीं रहा हूं तो अवकाश होगा ही नहीं तो निराशा भी नहीं होगी हम्म? अवकाश होता है तो आशा होती है क्यों जी ये कह रहे हैं कि मैं वैसे ही बोल रहा हूं इन्होंने कहा कि अवकाश हो तो निराशा होती है ठीक है भोजन के पहले अवकाश हो तो आशा होती है निराशा होती है आशा होती है और अवकाश न हो तो अवकाश न हो तो भोजन के पूर्व अवकाश न हो ऊपर नीचे तो निराशा होती है ना तो अवकाश हमारे को आशा देता है और आप तो अवकाश चिकित्सा के विशेषज्ञ हैं <laughs> नहीं आप अवकाश ही तो करते हैं <laughs> उस अवकाश में ही आप आशा को देखते हो आप निराश थोड़ा होते हो उसमें ये वो चिकित्सा करते हैं मुख्य रूप से उदर शुद्धि की एनिमा लगा के विशेष जल प्रवाहित करके शुद्धि की चिकित्सा की जाती है वो अवकाश चिकित्सा ही तो करते हैं आप और उस अवकाश में आप आशा को देखते हैं निराश नहीं होते देखो अवकाश को देख करके भी और उपवास चिकित्सा क्या है आयुर्वेद में जैसे पांच महाभूतों से चिकित्सा की जाती है पृथ्वी महाभूत से जल अग्नि वायु तो बोले आकाश से भी चिकित्सा होती है हाँ आकाश से भी होती है उपवास आकाश चिकित्सा ही तो आकाश का ही तो उपयोग है <laughs> हम खाते नहीं है खाते नहीं है अवकाश देते हैं <clears throat> तो उपवास आकाश महाभूत का प्रयोग है एक तरह से ऐसा कहते हैं वो उस तरह की मैं संगति पूरी तात्विक दृष्टि से नहीं कह रहा हूं लेकिन उपवास चिकित्सा क्या है आकाश की चिकित्सा है आकाश के माध्यम से चिकित्सा है और उपवास से क्या होता है अंदर अवकाश होता है अवकाश बनता है नहीं तो जैसे नालियां रुक जाती है ना गंदगी से तो अवकाश नहीं होता है उसको आयुर्वेद की भाषा में कहते हैं स्रोतोरोध स्रोत कहते हैं नलियां सोते निकलने वाली चीजें जो भी होते हैं उसमें जब रोध होता है रुकावट होती है <clears throat> तो उसको रोग बोलते हैं आयुर्वेद ने एक दृष्टि से विचार किया कि शरीर क्या है स्रोतोमयम ही अयम पुरुष ये पुरुष कैसा है स्रोतमय है इसमें स्रोत ही स्रोत है आप एक दृष्टि से देखो तो जो छिद्र है वो तो है ही स्रोत उसके अंदर शरीर में रक्त वाहिनियां हैं शुद्ध रक्त की अशुद्ध रक्त की धमनिया सिराएं धमनिया और शिराएं वो सारे क्या है स्रोत है फेफड़ों में क्या है स्रोत है गुर्दों में क्या है पेशाब जाता है छनता है खून जाता है छनता है पेशाब बनता है सब क्या है स्रोत ही स्रोत है फेफड़ों से फेफड़ों में वायु जाती है उससे रक्त में जाती है कैसे आती जाती है स्रोत में से छिद्र होते हैं पोषण रक्त के माध्यम से कोशिकाओं तक पहुंचता है रक्त से कोशिकाओं में कैसे जाता है छिद्र से ही तो जाएगी वो ये जो आवागमन हो रहा है अंदर शरीर में ऑक्सीजन जा रहा है ग्लूकोज जा रहा है प्रोटीन जा रहा है जो भी मिनरल्स जा रहे हैं खनिज लवण जा रहे हैं लवण जा रहा है जो भी चीजें जा रही हैं वो सब कैसे जा रही हैं बिना छिद्र के जाएंगी क्या छिद्र होगा और वहां जो मल उत्पन्न होता है कोशिकाओं में वो बाहर कैसे निकलेगा बिना छिद्र के बिना स्रोत के नहीं निकलेगा हर कोशिका में हर झिल्ली में आंतों में भोजन की हमने भोजन किया आंतों से जो अवशोषित होता है वो कैसे हो जाता है उन झिल्लियों में स्रोत होते हैं तभी तो होता है तभी तो निकल के जाता है पसीने बाहर अंदर सब जगह स्रोत ही स्रोत है तो अलग अलग स्रोतों की भी गणना की जैसे आजकल गणना की जाती है कि भाई पाचन तंत्र श्वसन तंत्र तंत्रिका तंत्र रक्त परिसंचरण तंत्र उत्सर्जन तंत्र जनन तंत्र ऐसे तो ऐसे अच्छा, आयुर्वेद में शरीर को स्रोतों के रूप में भी बांटा है अलग अलग स्रोत हैं एक तरह के स्रोत नहीं अलग अलग स्रोत ऐसा वर्गीकरण करके स्रोतों को कहा है तो तो स्रोत ही स्रोत है अवकाश ही अवकाश है अवकाश नहीं है तो रोग हो जाएगा स्रोतोरोध को आयुर्वेद में रोग का एक मुख्य कारण माना गया है स्रोतोरोध एक शब्द आता है बहुत आयुर्वेद में दोष चलते हैं चलते चलते चलते कहीं रुक जाते हैं स्रोतोरोध हो जाएगा ये कोलेस्ट्रॉल जमता है रक्तवाहिनियों में क्या है ये स्रोतोरोध है कब्जी होती है ये क्या है स्रोतोरोध है पेशाब कम आता है या नहीं आता है ये क्या है स्रोतोरोध है पसीना नहीं आता है ये क्या है स्रोतोरोध है सांस नहीं आता है तो ये क्या है स्रोतोरोध है प्रतिष्ठा हो जाता है नाग बंद होती है ये क्या है स्रोतोरोध है श्रोतोरोध हम्म? स्रोतोरोध हो जाता है जोड़ों में दर्द हो जाता है क्या है ये विजातीय तत्व वहां इकट्ठे हो जाते हैं पीड़ा करते हैं ये क्या है स्रोतोरोध है चकड़ाहट है ये है ज्वर आ जाता है क्या है स्रोतोरोध है उसमें भी स्रोतोरोध स्रोतोरोध स्रोतोरोध तो उसके लिए अवकाश और अवकाश में ही आशा है देखते हैं चलो आज का प्रश्न है आकाश परिशेष न्याय के द्वारा माना गया निर्धारित किया गया है ठीक है परिशेष न्याय से यह आपने कहा था शास्त्र भी कहता है ऐसा है ये मैं ही कहता हूँ आपने जो कहा शास्त्र हाँ मैंने तो कहा तो मतलब शास्त्रियों ही बोल दो ना शास्त्र भी कहता है ना तो, तो शास्त्री कह रहा है यहां जिज्ञासा भाव से कुछ पूछना चाहता हूं एक ये मन में होता है ना कि मैं प्रश्न नहीं कर रहा हूं मैं जिज्ञासा भाव प्रश्न कर रहा हूं ऐसा कई जने कहते हैं ना कि प्रश्न करना है तो वो बोलते हैं कि जैसे प्रश्न करना तो बहुत गलत बात है प्रश्न उठा दिया प्रश्न कर दिया और जिज्ञासा हो तो अच्छा माना जाता है हम्म? <laughs> ऐसा ही कहते हैं ना किसी ने प्रश्न कर दिया तो जैसे कि कोई आरोप लगा रहा है प्रश्न कर दिया तो बोले इसने प्रश्न खड़े कर दिए प्रश्न उठा रहा है ये तो बोले नहीं मैं प्रश्न नहीं मैं जिज्ञासा कर रहा हूं ऐसा बोलते हैं तो उसको अंग्रेजी में क्या शब्द बोलेंगे जिज्ञासा कर रहा हूं मैं क्वेरी है बस है और क्यूरियसिटी तो खैर अलग हाँ जिज्ञासा वशात कर रहा हूं जिज्ञासा कर रहा हूं है जी इनक्यूजिटिवनेस अच्छा और जानने की इच्छा और प्रश्न करना है तो बोले क्वेश्चनिंग क्वेश्चन कर रहा है तो प्रश्न धातु का अर्थ क्या होता है प्रश्न प्रश्न का क्या जानने की जीपसा जानने की इच्छा ही अर्थ होता है प्रश्न का अर्थ संस्कृत में जानने की इच्छा ही होता है अंतर ही नहीं है कुछ भी रूढ़ तो ठीक है हो गया लोगों में अब उसको इतना निंदित कर दिया कि प्रश्न तो गलत हो गया और जिज्ञासा ठीक हो गई जबकि संस्कृत की दृष्टि से मैं प्रश्न कर रहा हूं इसका मतलब ही है कि मैं कुछ जानना चाहता हूं आपसे कुछ जिज्ञासा कर रहा हूं अर्थ ही वही है उसका धातु का अर्थ ही यही है ठीक है चलिए आपकी जिज्ञासा है <clears throat> तो जिज्ञासा भाव से कुछ पूछना चाहता हूं तो देखो जिज्ञासा भाव और पूछना भी तो आ ही गया ना यहाँ पर <laughs> क्या है जिज्ञासा भाव से <laughs> पूछना चाहता हूं <laughs> ठीक है तो क्या कहते हैं कि भाषा है तो पूर्व ही क्षमा मांगता हुआ क्या यह जरूरी है कि परिशेष न्याय से आकाश ही शेष हो भाई परिशेष न्याय से आप आकाश ही क्यों मान रहे हो कुछ और भी तो मान सकते हो <laughs> आकाश को ही क्यों मान रहे हो परिशेष न्याय से ठीक है ये भी इन्होंने जैसा उदाहरण दिया था ये मोबाइल छूट गया है ये आपका है क्या सब जने चले गए अकेला बचा तो बोले अब मेरे को ही क्यों पूछ रहे हो अगर दो जने हो तीन जने हो तो तो भाई ये तो आपका ही है तो आप कहोगे कि मेरे को ही क्यों आपने कहा कि ये आपका है ये मोबाइल और भी तो जने थे तो यदि और कोई हो तब तो हम कह सकते हैं जब अकेला ही बचा हुआ हो तो उसी को ही होगा ये बचा हुआ ही है आकाश ही बचा हुआ था जिसका कि धर्म शब्द को हमें लेना था महाभूत तो पांच है पांच ज्ञानेन्द्रिया है उन पांच ज्ञानेन्द्रियों के एक एक अपने अपने विषय हैं ठीक है शब्द बच गया था अब शब्द भी तो एक विषय महत्वपूर्ण है एक इंद्रिय से जाना जाता है अलग उसके लिए एक इंद्रिय है तो बाकी चार विषय जो कि चार इंद्रियों से ज्ञानेन्द्रियों से गृहित होते हैं उनके लिए एक एक महाभूत है अब ये एक ही तो बचा था शब्द एक इंद्रिय बची एक शब्द बचा और महाभूतों में भी अकेला एक ही बचा तो परिशेष न्याय से वही तो आएगा और कौन आएगा महाभूतों में से वो अकेला ही बचा हुआ है बाकी चार अलग अलग महाभूतों से जुड़े हुए हैं नहीं है नहीं क्यों ऐसा क्यों बोलो है नहीं ऐसा क्यों बोलो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए चार ज्ञानेन्द्रियों के चार विषय अलग अलग भूतों में विशेष दृष्टिगत हो रहे हैं ठीक है चार ज्ञानेन्द्रियों के चार विषय अलग अलग केंद्रित हो रहे हैं हमारे को चार महाभूत हो रहे हैं एक बच रहा है उसके लिए क्यों ना माने इन्होंने आगे लिखा है कि भाई ये तो केवल शब्द प्रमाण है शास्त्र में लिखा है क्या केवल इसलिए माने तो वो भी तो कम बात नहीं है इधर इससे भी पुष्टि हो रही है हमारे को और शास्त्र में भी आकाश का लिखा हुआ है शब्द तन्मात्रा भी है आकाश महाभूत भी है तो परिशेष न्याय से क्यों ना माने उसको तो इनका प्रश्न यह है कि क्या यह जरूरी है कि परिशेष न्याय से आकाश ही शेष हो इनको क्यों आपत्ति है तो बोले कि जिसका ना तो कोई रूप ना कोई रस ना कोई गंध और ना कोई स्पर्श है ऐसे उस आकाश को मानने की क्या आवश्यकता है भाई अगर आकाश है तो या तो कुछ गंध हो उसकी कोई रस हो कोई रूप हो कोई स्पर्श हो ये तो कुछ है ही नहीं उसमें तो ऐसे आकाश को मानने की कहा आवश्यकता है इसकी जगह कुछ और मान सकते थे आकाश को ही क्यों माने जब ये चार गुण है ही नहीं उसमें ये बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है कि परमात्मा को हम क्यों माने यदि उसमें शब्द स्पर्श उपरस तो कुछ है ही नहीं दिखता ही नहीं है वो तो परमात्मा को क्यों माना जाए कुछ तो होना चाहिए इनमें से <laughs> भाई आंख से दिखे गंध आ जाए उसकी कान से सुनाई दे जाए कुछ खाने में रस आ जाए परमात्मा का कुछ छू सके कुछ तब तो माने नहीं तो क्यों माने ऐसा ही तो प्रश्न करते हैं जो अन्य लोग होते हैं ऐसा ही आपने भी किया है तो परिशेष न्याय से आकाशी शेष हो ऐसा क्यों जरूरी है मानना जिसका ना तो कोई रूप ना कोई रस ना कोई गंध और ना कोई स्पर्श है शब्द इसका गुण माना जाता है है नहीं भाषा क्या बोल रही है होता है नहीं क्योंकि ये तो मानते नहीं है उसको इनका प्रश्न ही इसीलिए है तो बोले माना जाता है शब्द इसका गुण माना जाता है जब कोई व्यक्ति इस भाषा को बोलता है ना ऐसा माना जाता है ऐसा माना जाता है ये भाषा क्या बोलती है कई बार प्रवचन में जैसा कि हम मानते हैं ईश्वर सर्वव्यापक है <laughs> ये भाषा कभी पकड़ना आप वक्ताओं की बहुत बार और चीजें व्यक्ति निश्चित बोल रहा है लेकिन परमात्मा की सर्वव्यापकता अभी मन में नहीं बैठी है वो कैसे बोले यूं भी नहीं बोला जा रहा है कि भाई परमात्मा सब जगह है व्यापक है बोले जैसा कि वैदिक धर्म में माना जाता है ईश्वर सर्वव्यापक है ठीक है झूठ भी नहीं हो रहा है लेकिन ये वाक्य संकेत दे देता है जैसे कि यहां पर यहां तो हमें पता ही है खैर इनके अन्य वाक्यों से लेकिन कहीं अन्य वाक्य ना भी हो ना किसी व्यक्ति के और इस भाषा में कोई बोल रहा हो तो संकेत मिल जाता है कि हाँ इस विषय में कुछ इसको संदेह निश्चित नहीं है वैसे पूछेंगे कि भाई ईश्वर एक है सर्वव्यापक है तो वो बोलेगा सर्वव्यापक है क्योंकि वही पढ़ा है वही सुना है वही मानता भी है वैसे और वही बोलेगा लेकिन प्रवचन आदि देते समय या प्रवाह से बोलते समय कभी इस भाषा में कोई व्यक्ति बोल रहा हो तो, तो उसका अंतकरण पढ़ने में ये सहायक हो जाता है कि हाँ इसकी ये स्थिति है ऐसा माना जाता है तो शब्द इसका गुण माना जाता है स्वरूप भी इसका अस्पष्ट है अर्थात इसकी सत अवस्था भी न्यायादि से सिद्ध करनी पड़ती है ये इनकी बहुत पहले की भाषा है अब शायद ये इस भाषा को नहीं बोले <laughs> इस वाक्य में क्या दोष है देखना न्याय दर्शन वाले इसकी सत अवस्था भी न्यायादि से सिद्ध करनी पड़ती है तो मैं यही कह रहा हूं ना ये आपका पहले का लिखा हुआ है क्या आप अब इस वाक्य का समर्थन करेंगे आप दीजिए क्या उत्तर है इस वाक्य में न्याय की प्रशंसा की जा रही है कि न्याय से देखो उसकी सत्ता सिद्ध कर दी जाती है न्याय आदि से आकाश की सत्ता सिद्ध कर दी जाती है ना न्याय शास्त्र में की है तो न्याय की प्रशंसा होगी या निंदा होगी जिससे किसी चीज की सिद्धि की जा सके वो प्रशंसनीय होगा ना क्यों उलझ रहे आप बताओ प्रशंसनीय होगा ना मैं इनका वाक्य फिर बोल रहा हूं पीछे से देखना देखो शब्द इसका गुण माना जाता है स्वरूप भी इसका स्पष्ट है अर्थात इसकी सत अवस्था भी न्यायादि से सिद्ध करनी पड़ती है सिद्ध करनी पड़ती है चलो एक तो पढ़ती है <laughs> यानी हम चाहते नहीं है उसको <laughs> न्यायाधीश से सिद्ध करना चाहते नहीं है या हो नहीं रही है उससे करनी पड़ती है करनी पड़ती है ये भाषा भी एक अलग है हुँ? हम्म? सिद्ध करना पड़ता है मैं इस भाषा को बोल रहा हूं कि न्यायाधी से सिद्ध करनी पड़ती है यानी बचना चाहते हैं न्यायाधी से सिद्ध न हो तो अच्छा नहीं सर्दियों में सुबह सुबह ठंडे पानी से स्नान करना पड़ता है इसका मतलब करना चाहते नहीं है मतलब बच जाए तो अच्छा है ठीक है तो न्याय आदि से करनी पड़ती है यानी न्याय आदि कोई ऐसी कठिन या तो दुष्ट अवस्थ प्रक्रिया है जिससे करनी पड़ती है और न्यायाधि से सिद्ध करनी पड़ती है वैसे नहीं हो रही है तो भाई न्यायाधि से यदि किसी की सत्ता सिद्ध हो रही है तो दोष क्या है उसमें न्यायाधि भी तो प्रमाण है तो ये तो खैर अब स्वयं भी स्वीकार कर रहे हैं कि अब ये वाक्य नहीं लिखेंगे अगर लेकिन उस समय देखो ये वाक्य लिखा कि इसकी सत अवस्था भी न्यायाधीश से सिद्ध करनी पड़ती है अर्थात इसकी सत्ता है या नहीं इसमें भी संदेह है न्यायाधीश से सिद्ध हो रही है सिद्ध करनी पड़ती है होती है लेकिन फिर भी संदेह है कि ये है या नहीं है अर्थात न्यायाधीश से कोई बात सिद्ध हो रही हो तो वो कोई सिद्ध ही नहीं है वो तो बस वैसे ही है तो अर्थात इसकी सत्ता है या नहीं इसमें भी संदेह है ये इनका पांच दस का लिखा हुआ है दस के बाद ग्यारह बारह लगभग दो महीने पहले का इनका प्रश्न था आकाश की भी नहीं हुई थी न्याय तो खैर हो चुका था कुछ तो दो महीने तो लग, दो महीने हाँ लगभग दो महीने क्यों अगस्त में पांच अगस्त को लिखा है ना नहीं अक्टूबर अक्टूबर तो हम अगस्त में आए तो सितंबर और अक्टूबर बस डेढ़ महीना ही तो हुआ था डेढ़ महीना भी नहीं हुआ था सवा महीना हुआ था सवा महीना ही तो हुआ था अगस्त में अगस्त में तो प्रारंभ किया हमने 28 से सितंबर और ये अक्टूबर पांच अक्टूबर को तो लिखा है इन्होंने लगभग सवा महीने बाद ही लिखा है तो अर्थात इसकी सत्ता है या नहीं इसमें भी संदेह है शब्द प्रमाण मात्र से मानते हुए हम आकाश है आकाश है यह कहते हैं <laughs> शब्द प्रमाण मात्र से मान के कहते रहते हैं आकाश है आकाश है वास्तव में था ही नहीं यानी शब्द तो जैसे कोई प्रमाण ही नहीं है ऐसा भाव है ना इस वाक्य में इनके शब्द जैसे कोई प्रमाण नहीं है कहते हैं क्षम्य था हम इनको लग रहा है कि भाई मैं आघात कर रहा हूं तो क्षम्य था हम पता नहीं है कि नहीं पर जैसे इसका स्वरूप का वर्णन किया जाता है तो यही लगता है कि ये नहीं कोई चीज वस्तु ये कोई चीज और वस्तु नहीं है जैसा वर्णन किया जाता है उससे पता लगता है जैसे ये कोई चीज है ही नहीं आकाश कोई चीज ही नहीं है यदि हम शब्द गुण भी वायु का ही मान लें तो क्या समस्या आ सकती है आकाश को क्यों मानो शब्द गुण को ही मानना है तो वायु का मान लो <laughs> त्वचा तो अच्छा, से तो वो तो प्रत्यक्ष का अपलाप तो कोई नहीं कर सकता लेकिन ये जो परिशेष से या तो शब्द प्रमाण से आ रहा है उसको तो उसको हटाने की बात है तो इनका कहना है कि भाई वायु को मान लें शब्द गुण वायु का ही मान लें तो क्या समस्या आ सकती है आप बताएंगे क्या समस्या आ सकती है ये आपने लिख रखी है क्या प्रतिली इसकी मिलान कर रहे हो मैं ठीक बोल रहा हूँ <laughs> मैं छुपाता नहीं हूँ ऐसा तो कभी किसी शायद ही किसी प्रश्न में ऐसा है तो आप लोग जो लिखते हैं वो बोल देता हूँ और न छोड़ूंगा कोई बात कोई बात छोड़ करके उगाल करके चला जाऊं कि भाई चलो ये कठिन है और उगाल के चल जाए ऐसा नहीं नहीं आता है तो बोल दूंगा कि भाई इसका उत्तर भी विचार नहीं है पता नहीं है तो यदि हम शब्द गुण भी वायु का ही मान लें तो क्या समस्या आ सकती है और आकाश मात्र हम उसी को मानेंगे जो असत है आकाश हम किसको मानेंगे जो असत है क्योंकि पहले जो चर्चा चली थी उस समय आकाश की तो प्रश्न ये था कि आकाश अवकाश यानी शून्य है असत है या सत्तात्मक चीज है कोई तो उस संदर्भ में आया था कि नहीं आकाश को तो हमें सत्तात्मक ही मानना पढ़े <laughs> क्यों क्योंकि शब्द एक गुण है वो सत्तात्मक वस्तु का ही धर्म हो सकता है असत का नहीं हो सकता असत का शून्य का अभाव का गुण नहीं हो सकता वो ठीक है कोई भी गुण नहीं हो सकता अभाव का तो हमेशा कोई भी गुण सत्तात्मक में ही होता है इसलिए असत का गुण नहीं मान सकते तो वो असत खंडित हो रहा था तो शब्द का गुण शब्द को तो गुण मान लिया वायु का इन्होंने अपनी परिकल्पना में कि हम इसको वायु का मान लेंगे और आकाश को अब सत वस्तु मानने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अब आकाश को असत मान लेंगे अभाव अभाव रूप अवकाश रूप क्योंकि आकाश को सत क्यों मानना पड़ रहा था आकाश को सत क्यों मान रहा था क्योंकि शब्द गुण उसका हम मान रहे थे तो वो असत का हो नहीं सकता था तो इन्होंने समस्या का समाधान किया कि शब्द को वायु का गुण मान लेंगे और आकाश को असत मान लेंगे सत क्यों माने उसको जिसमें न शब्द जिसमें न रूप है न रस है न गंध है न स्पर्श है उसको हम असत क्यों न मान लें तो और आकाश हम उसी को मानेंगे जो असत है अर्थात अविद्यमान है इससे यह दोष आएगा यह कह सके यह मेरे मतानुसार तो नहीं लगता यानी कोई दोष आएगा ये इनके मत में नहीं आता कोई दोष नहीं आ सकता अर्थात मूल प्रश्न तो यह है कि आकाश नाम की वस्तु कोई सत माने ही नहीं तो क्या दोष आ सकता है शब्द वाला दोष था वो इन्होंने हटा दिया इसलिए बोले कोई दोष आ ही नहीं सकता है मात्र शब्द प्रमाण गलत हो सकता है कोई क्या दोष आ सकता है अगर आकाश को नहीं माने तो बोले मात्र शब्द प्रमाण गलत हो सकता है और कोई दोष नहीं आ सकता अब ये शब्द प्रमाण गलत हो रहा है ये तो बहुत बड़ा दोष है <laughs> लिखा है तो मैं जा रहा हूं ना आगे भी लेकिन आपका ये वाक्य भी तो कुछ कह रहा है हम कहें कि भाई इसको मानने में क्या दोष आएगा बोले बस वेद की पंक्ति गलत सिद्ध होगी और तो कुछ होगा नहीं वेद की पंक्ति गलत सिद्ध हो रही है तो हो रही है उसमें क्या फर्क पड़ता है भाषा का प्रयोग है ना उस भाव को पता लगता है तो मात्र शब्द प्रमाण गलत हो सकता है पर विद्वान लोग उस आकाश को वायु शब्द ही मानकर अर्थ नहीं ले सकते क्या यानी ये कहना चाह रहे हैं विद्वान लोग उस आकाश को ये जो आकाश शब्द है इसको वायु ही मान करके क्यों नहीं ले लेते आकाश को अलग से न मान के आकाश का मतलब भी वायु ही क्यों ना समझ लिया जाए समस्या ही खत्म हो जाएगी आकाश की जिससे शब्द प्रमाण भी नहीं गलत तथा कार्य भी सिद्ध हो सके शब्द प्रमाण गलत सिद्ध होने का दोष आ रहा था कि शब्द प्रमाण में लिखा है कि यानी गृहशास्त्रों में लिखा है कि शब्द गुण आकाश का होता है अगर ये नहीं मानेंगे तो शास्त्र प्रमाण यानी आप्तोपदेश गलत सिद्ध होगा तो हम उस आकाश का मतलब वायु ही ले लें आकाश का मतलब जब वायु ही ले लेंगे तो आप्तोपदेश भी सत्य सिद्ध हो जाएगा और शब्द गुण भी वायु का ही हो जाएगा तो समस्या भी नहीं रहेगी और शास्त्र का वचन भी खंडित होने से बच जाएगा तो क्या किन्होंने युक्ति दिखाई जहां जहां आकाश शब्द आए वहां आकाश शब्द से वायु का ग्रहण कर लो तो शब्द प्रमाण भी खंडित नहीं होगा तो शब्द प्रमाण में कहीं आकाश का मतलब वायु लिखा हो तो लेना वो ये तो और क्या कर रहे हैं हम शास्त्र प्रमाण ही तो खंडित कर रहे हैं आगे लिखा है आगे भी चलते हैं तो विद्वान लोग उस आकाश को वायु शब्द ही मानकर अर्थ नहीं ले सकते क्या जिससे शब्द प्रमाण भी नहीं गलत तथा कार्य भी सिद्ध हो सके क्या ऐसा करना उचित है व नहीं तो ऐसा करना उचित नहीं है अनेक लोग सूत्रों का अर्थ करते हुए मंत्रों का अर्थ करते हुए इस युक्ति का सहारा लेते हैं वहां कोई बात दिख रही होती है वो तो ये तो गलत है ये तो ठीक नहीं तो इसका हम ये अर्थ कर देंगे उसका ऐसा मनमाना अर्थ कर देंगे वहां पर तो ऐसे करने से तो बहुत विकार हो जाएगा होते हो ही रहा है ऐसे ही ऐसे ही मन चाह अर्थ कर देंगे यू वो अर्थ अगर कई अर्थ है उनमें से आप एक उचित अर्थ संगतिपूर्ण लगा रहे हो तब तो ठीक है ऐसे ही अपनी मान्यता को सिद्ध करने के लिए जो भी अर्थ वहां पर लगाना चाहे लगा दें ये तो शास्त्र के साथ फिर न्याय नहीं होगा इसके लिए इन्होंने प्रमाण दिया है यानी आकाश को वायु शब्द से कहने के लिए वायु को आकाश और आकाश को वायु ये प्रतिजय बदल रहे हो आप ऐसा कहा हुआ था कहा था लेकिन मैंने इसको किया कि वायु को आकाश से कैसे आकाश को वायु से शब्द से आकाश को वायु आकाश शब्द जहां जहां पढ़ा हो उसको हम वायु ही मान लें ये आप ऊपर से बोल करके आ रहे हो अब उसके लिए प्रमाण दे रहे हैं तो मैं ये पूछ रहा था अभी इनसे कि भाई आकाश को वायु कहा है कहीं बोला नहीं आकाश को वायु का हो या वायु को आकाश का हो एक ही बात है तो ये इन्होंने उलट दिया अब मैं कहना वो चाह रहा हूँ वो वायु कहा हो तब भी आकाश आकाश का हो तभी वायु ही ऐसा नहीं देखते हैं अभी आपके प्रमाण पे भी बात करते हैं सब के सामने लेकिन इनकी प्रतिज्ञा क्या चली आ रही थी अभी किस बात का प्रमाण देंगे इन्होंने कहा प्रमाण प्रमाण शीर्षक दे करके तो प्रमाण का मतलब क्या होगा मुख्य बात क्या है कि आकाश शब्द जहां पढ़ा गया है उस आकाश का मतलब वायु अर्थ जहां लिया जा रहा हूं यही तो प्रसंग है ना आपने यही तो लिखा है अब आप प्रमाण दोगे तो किसकी पुष्टि का दोगे ऐसे स्थल शास्त्र के ऐसे स्थल जहां आकाश शब्द लिखा हो लेकिन अर्थ वायु का लिया जाए यही तो संगति में आएगा पर जैसे ही मैंने कहा आपने कहा कि आकाश का वायु और वायु का आकाश अर्थ शब्द भिन्न हो रहे लेकिन अर्थ एक ही वो देखते हैं वो देखते हैं वो अर्थ भी कौन सा है आकाश का वायु अर्थ लिया जाना चाहिए वो आपके लिए प्रमाण है अगर इन दोनों शब्दों का कोई एक अर्थ लिया जा रहा हो कोई अन्य भिन्न अर्थ तो भी बात नहीं बनेगी तो भी इस आपकी पुष्टि में प्रमाण नहीं आएगा आकाश शब्द का भी कोई और अर्थ लिया जा रहा है वायु से भिन्न और वायु का अर्थ भी कुछ और लिया जा रहा है लेकिन आकाश और वायु शब्दों का एक ही अर्थ लिया जा रहा है कुछ लेकिन वो अर्थ वायु अगर नहीं है तो भी आपकी पुष्टि नहीं करेगा क्योंकि आपका आधार पृष्ठभूमि क्या आ रही है आकाश शब्द से भी वायु अर्थ क्यों ना ग्रहण कर लिया जाए उसके लिए आप प्रमाण दे रहे हैं ठीक है हाँ नहीं नहीं तो शब्द को तो प्रमाण मानती है ये <laughs> लेकिन ये क्या कहते हैं अभी देखते हैं ना इनकी अभी समझना भी है इनका कि क्या अभिप्राय है प्रमाण विमाने न विहगामहे ऐसा रघुवंश विमाने न विहगामहे विमान से हम विहगामहे मतलब उड़ते हैं जैसे पक्षी उड़ते हैं ऐसे हम उड़ते हैं तो इसमें क्या प्रमाण दे रहे हैं वायु शब्द इसमें वायु शब्द कहा है लेकिन इसका अर्थ जो लिया गया है ना आकाश इसमें ना तो आकाश है मैं देखा था इसको तो वहां वायु अर्थ लिया किसका कौन से शब्द का जहां उड़ रहे हैं जहां उड़ रहे हैं उसका अर्थ वायु मतलब वायु में उड़ रहे हैं श्लोक आपने वैसे पूरा नहीं लिखा है यहां पर जो आपने लिखा है वहां तो कुछ ऐसा नहीं है और अगर ये कथन भी हो कि विमान से वायु में उड़ रहे हैं तो वो जो वायु को बताने वाला वायु में है उसके लिए आकाश शब्द लिखा हुआ है अब कह सकते हैं विमान से हम आकाश में उड़ते हैं इस कथन में दोष नहीं है विमान से हम आकाश में उड़ते आज की आज की परिस्थिति में भी देखें पत्थर किसी ने ऊपर फेंका तो बोले पत्थर को आकाश में फेंका और हवा में उछाला हवा में फेंका ये भी दोनों वाक्य कह सकते हैं लेकिन इस अगर एक ही स्थिति के लिए कोई व्यक्ति इन दो वाक्यों को बोलता है या समाज में दो वाक्य प्रचलित हैं इसका ये अर्थ आप कभी नहीं निकाल सकते कि आकाश और वायु एक ही चीज है निकाल सकते हैं क्या वाक्य दो प्रयोग किए जा रहे हैं एक ही क्रिया के लिए पत्थर को ऊपर उछाला तो बोले इसको आकाश में उछाला इसको वायु में उछाला वाक्य दो हैं एक ही क्रिया के लिए फिर भी आकाश शब्द का वक्ता का अभिप्राय भिन्न है और वायु का भिन्न है इतना प्रयोग होते हुए भी आप आकाश और वायु को समान नहीं मान सकते ठीक है जो आकाश का कह रहा है यानी आकाश की तरफ है और खुली जगह में है वो वायु को देख नहीं रहा है अभी वैसे वायु भरी भी है लेकिन वक्ता वायु को देख नहीं रहा है वो खाली जगह को देख रहा है क्योंकि यहां सब भरी हुई चीजें हैं इसलिए आकाश में उछाला आकाश की तरफ उछाला और हम सब कहते हैं आकाश ही है भिन्न दृष्टि से और कोई वायु को भी कहता है हवा में उछाल दिया ठीक है तो वक्ता के अभिप्राय से भिन्न अर्थ हम नहीं ले सकते ये वाक्य शास्त्र का या भाषा शास्त्र का नियम है वक्ता जिस अभिप्राय से कह रहा है उसके अनुरूप लेते हुए यदि हम कुछ संगति लगा सकते हैं तो लगा लें अगर इस श्लोक में वैसे लिखा नहीं है यहां लेकिन अगर इस श्लोक में कहीं ऐसा है भी तो भी वो अर्थ नहीं आएगा जो आप सिद्ध करना चाह रहे हो कि आकाश का मतलब वायु ले लेंगे वो सिद्ध नहीं हो पाएगा दूसरा इन्होंने कहा आस्पदम अनेन लब्धम व्याकरण का उदाहरण है आस्पदम प्रतिष्ठायाम ये सूत्र है प्रतिष्ठा अर्थ में आस्पद शब्द निपातित है तो आस्पदम अनेन लब्धम उसका इन्होंने अर्थ लिखा है प्राण धारणार्थम अनेन स्थानम प्राप्तम प्राण धारणार्थ मतलब आजीविका अर्थ वहां पर आस्पदम अनेन लब्धम मतलब अपनी जीविका के लिए उसने एक स्थिति अपनी बनाई समाज के अंदर जीवन जीने के लिए प्राण धारण के लिए उस अर्थ में तो इससे ये कहा सिद्ध होता है कि आकाश शब्द का अर्थ वायु भी लिया जाता था शास्त्र में तो कहीं भी नहीं है इसमें अब आप स्वयं देखो इससे आप ये कैसे निकाल रहे थे उस समय अभी समझा सकते हो तो बताओ कुछ आपका क्या अभिप्राय था पूरा भी मेरे इतना तो नहीं ध्यान आ रहा लेकिन जैसा शब्दकोश में देखा था हाँ तो शब्दकोश में वायु शब्द को आ, आकाश भी कहा है वायु का अर्थ आकाश भी कहा है तो वहीं ये दो तीन वाक्य दिए हुए थे हाँ मैंने वाक्य वहां से वो आपने यूं यूं ले लिए न्याय दर्शन पढ़ने से आपके जो प्रश्न है ना वो कम हो जाएंगे हो गए हैं काफी तो अलग अलग व्यक्तियों की रुचि प्रवृत्ति होती है कुछ में बहुत प्रश्न उठते हैं इनको बहुत प्रश्न उठते हैं पूछते भी बहुत रहते हैं ऋषि उद्यान में भी या पहले भी पूछते रहे होंगे ये थोड़ा सा भी होते ही बहुत प्रश्न थोड़ा सा होते ही बहुत प्रश्न थोड़ा सा कुछ हुआ एकदम प्रश्न उठा देते हैं और भी कईयों की रहती है ऐसी प्रवृत्ति कि कुछ थोड़ा सा हुआ और प्रश्न उठा दिया वो प्रश्न संगत है या नहीं है क्या प्रश्न बनता है प्रश्न बन भी रहा है या नहीं बन रहा है सोच विचार के ऐसा सब जने नहीं करते प्रश्न कुछ जने बस मन में थोड़ी सी आशंका ही और प्रश्न कर दिया ऐसी आपकी प्रवृत्ति थी अभी कम हो गई है जब खुद सोचने लगते हैं ना अच्छी तरह अच्छा ये है ये है अपने तरफ से सोच के फिर हाँ अब ये प्रश्न बन रहा है प्रश्न का भी आधार बनता है नहीं यहां ये कहा यहां ये कहा ये ऐसा है ये ऐसा है इसलिए ये प्रश्न बन रहा है प्रश्न भी साधार रखा जाता है तो लगता है हाँ प्रश्न पूछा है इसने देखो ये उचित प्रश्न पूछा ये प्रश्न बनता है इस स्थिति में प्रश्न बनता है उत्तर देते समय भी जैसे हम कहते हैं अच्छा उत्तर आया है बिल्कुल ठीक ठीक उत्तर आया है ऐसे ही प्रश्न भी जो होते हैं ना प्रश्न पूछने से पता लग जाता है कि व्यक्ति क्या प्रश्न कर रहा है इसने क्या सोच है इसकी और किस स्तर पे ये जानता है प्रश्न से ही परीक्षा हो जाती है बहुत बार तो बार बार आप प्रश्न सुनेंगे ये किस तरह का प्रश्न कर रहा है जैसे उत्तर देने पे परीक्षा हो जाती है कैसा उत्तर दे रहा है ऐसे प्रश्न पूछने से भी परीक्षा हो जाती है किस स्तर का प्रश्न पूछा जा रहा है क्या सोच विचार के पूछा जा रहा है ऐसा आपको एक बहुत बड़ा लाभ हो चुका है काफी सारा तो प्रश्न तो आप करेंगे लेकिन प्रश्न करने से पहले अब आप खुद भी बहुत अच्छा सोचने लगेंगे कि अच्छा ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है आपको खुद को लगेगा ये एक दो महीने पहले का है आप आप अपना आकलन कर सकते हैं कि अभी आप सोचेंगे कि मैंने ये क्यों लिख दिया था <laughs> ऐसा मैं कैसे लेके गया था ये तो ठीक नहीं लिखा था मैंने ये प्रमाण आपने दिया आपको खुद सोच करके आप देखो कि इससे कैसे सिद्ध कर पाओगे कि आकाश शब्द का मतलब वायु भी लिया जाता है आप ये प्रस्तुत करना चाहते हो प्रमाण देना चाहते हो तो हम जो सिद्ध करना चाहते हैं उसके अनुरूप प्रमाण को प्रस्तुत करना ये एक न्याय दर्शन की विशेषता होती है कि जो हमने कहा है जो हमारा साध्य है जो हमारी प्रतिज्ञा है उसके अनुरूप ही बोलना इधर उधर का कुछ नहीं बोलना हम जो बोल रहे हैं उससे मेरी प्रतिज्ञा की सिद्धि हो रही है नहीं हो रही है मेरी बात की पुष्टि हो रही है नहीं हो रही है ये देख, देखने की बात होती है नहीं तो विद्वानों के बीच में इस तरह की बात होगी ना तो एकदम उड़ जाएगा वो आदमी ये बेतु की बात कर रहा है इसको यही नहीं पता है कि मैं क्या उदाहरण दे रहा हूं क्या जो ज्यादा बुद्धिमान मान लो वैज्ञानिक है वहां अगर आपने एक भी उदाहरण इधर उधर दे दिया तो उनका लगेगा कि ये तो ऐसे ही बोल रहा है उसका बुद्धि का स्तर ठीक नहीं है क्योंकि वहां सारा का सारा बुद्धि के आधार पर ही चल रहा होता है बुद्धि के आधार पर ही तुलना होती है क्या बोल रहा है कितना ज्ञान है क्योंकि चर्चा ही ज्ञान की है वहां तो ज्ञान विज्ञान की चर्चा है वहां इसी तरह से तुलना होती है बस स्तर को उसी आधार पर देखा जाता है तो यदि हमने संगत नहीं बोला असंगत बोल गए गए सभा के अंदर तो न्याय दर्शन में अपनी बात को संगति से बोलने का एक अभ्यास बन जाता है करते करते त्रुटियां तो हो सकती हैं आगे भी किसी से लेकिन कम हो जाएंगी बहुत कम हो जाएंगी बिल्कुल ठीक बात हम नपीतुली बोलेंगे नोट पांच को, की को सिद्धि भी आप तो ही कर सकते हैं तर्क ऋषि द्वारा इसका मतलब मैं नहीं समझा पांच महाभूत पांचों को सिद्ध भी करना हाँ किस प्रकार से किया जाएगा तर्क से तर्क से कर सकते हैं आपने ही समाधान दे दिया ना किस प्रकार करेंगे आकाश क्या मानेंगे चलो आगे थोड़ा सा और इसी में आकाश विषयक प्रश्न जो पूर्व दिया था उसी का एक भाग एक प्रश्न पूछा गया था कि आकाश में वायु ठहरती है यह किसने कहा ये पूछा गया था मतलब ये मेरे को सीधा नहीं कह रहे हैं कि आपने ये प्रश्न पूछा था हाँ मैंने ही पूछा था आपने ये भाषा नहीं लिखी ना थोड़ा अटपटा लगता है ना कि जी आपने ये पूछा था आपने ये कहा था इसलिए नाम ना लेकर के ये शैली होती है कि एक प्रश्न पूछा गया था कि आकाश में वायु ठहरती है ये किसने कहा क्योंकि इन्होंने उस समय ये बात कही थी कि आकाश में वायु ठहरती है आपने ये कहा मैंने कहा ये किसने कहा कि आकाश में वायु ठहरती है उस प्रश्न को उद्धृत करके उस वाक्य को उद्धृत करके ये आगे कह रहे हैं तो बोले उसका उत्तर यह होना चाहिए ये उत्तर दे रहे हैं मनुस्मृति प्रथम अध्याय पिचहत्तरवा श्लोक संख्या उसके अनुशीलन में यानी टिप्पणी में नीचे व्याख्या के व्याख्या अर्थ करने के बाद में अलग से उन्होंने लिखा है अनुशीलन में सुरेंद्र कुमार जी लिखते हैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी जिन्होंने मनुस्मृति का भाष्य लिखा है लिखते हैं आकाशोत्पत्ति के विषय में महर्षि दयानंद लिखते हैं आकाशोत्पत्ति के विषय में महर्षि दयानंद लिखते हैं सुरेंद्र जी का नाम क्यों लिखा है यहां पर यानी अब एक वाक्य दे रहे हैं किसका महर्षि दयानंद का उस परमेश्वर और प्रकृति से आकाश अवकाश अर्थात जो कारण रूप द्रव्य सर्वत्र फैल रहा है उसको इकट्ठा करने से अवकाश उत्पन्न होता है वास्तव में आकाश की उत्पत्ति नहीं होती क्योंकि बिना आकाश के प्रकृति और परमाणु कहाँ ठहर सके तो यानी वायु आकाश में ठहरती है इसकी पुष्टि में इन्होंने ये वाक्य दे दिया किसका वाक्य महर्षि दयानंद का वाक्य सुरेंद्र कुमार जी ने महर्षि दयानंद जी का ऐसा वाक्य उद्धृत किया है मैं वही बोल रहा हूँ वो तो आगे की बात है मैं यही इनकी भाषावली से देखो कैसे पता लगता है ना इसको दृष्टि को भाई इनको महर्षि दयानंद का ही वचन देना होता तो सीधे भी तो दे सकते थे कि महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के इस साठवे सविलास में यहाँ ये लिखा है तो ये ना देकर के इन्होंने क्या लिखा मनुस्मृति के फला श्लोक के परिशीलन में सुरेंद्र कुमार जी ये लिखते हैं कि महर्षि दयानंद ने ये वाक्य लिखा है <laughs> <laughs> मतलब इस प्रक्रिया में ये क्या सिद्ध कर रहे हैं एक दूसरे को प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं ना ये ये वाक्य महर्षि दयानंद का है ये किसने किसके किससे पुष्ट करवा रहे हैं सुरेंद्र कुमार जी से और सुरेंद्र कुमार जी ने कहा है ये मनुस्मृति के इस श्लोक के परिशीलन में सुरेंद्र कुमार जी ने ये कहा है अब महर्षि का वाक्य दे रहे हैं ठीक है मैंने मनुस्मृति नहीं नहीं वो एक अलग बात उस तो वो तो नहीं लेकिन आप यू देखो कि किससे किसको पुष्ट कर रहे हैं मुख्य विषय तो ये था कि आकाश में वायु ठहरती है इसको इनको सिद्ध करना था इतना ही तो <laughs> उसके लिए आप महर्षि का सीधा वचन भी तो दे सकते थे लेकिन उसकी पुष्टि के लिए सुरेंद्र कुमार जी के पास गए मतलब वो वाक्य महर्षि का है या नहीं है इसमें संदेह है भाई किसी बात की पुष्टि के लिए कोई दूसरा प्रमाण और प्रस्तुत कर रहा है कोई इसका क्या मतलब होगा कि कुछ संदेह है या तो सामने वाला शंका कर सकता है कि ये तो महर्षि का वाक्य ही नहीं है तो नहीं देखो सुरेंद्र जी ने कहा है कि ये महर्षि का वाक्य है ऐसे ना इसीलिए तो ये है इन्होंने ये अब अभिव्यक्ति हो या नहीं हो मैं केवल एक थोड़ा भाषा की विवेचना भी आपको साथ साथ कर रहा हूं कि कोई व्यक्ति ऐसे लिख रहा है तो क्या मतलब होता है उसका फिर देखो पढ़ो इनका एक प्रश्न पूछा गया था कि आकाश में वायु ठहरती है यह किसने कहा इसका उत्तर यह होना चाहिए मनुस्मृति प्रथम अध्याय पिचहत्तर श्लोक संख्या उसके अनुशीलन में सुरेंद्र कुमार जी लिखते हैं अब सुरेंद्र कुमार जी खुद लिखते हो तब तो फिर भी चल जाता कि भाई सुरेंद्र कुमार जी ऐसा लिखते हैं लेकिन सुरेंद्र कुमार जी लिखते हैं आकाशोत्पत्ति के विषय में महर्षि दयानंद लिखते हैं अब ये वचन है उस परमेश्वर और प्रकृति से आकाश अवकाश अर्थात जो कारण रूप द्रव्य सर्वत्र फैल रहा है उसको इकट्ठा करने से अवकाश उत्पन्न होता है वास्तव में आकाश की उत्पत्ति नहीं होती क्योंकि बिना आकाश के प्रकृति और परमाणु कहां ठहर सकें सत्या प्रकाश अष्टम समुलास ये जो वाक्य है जो इन्होंने दिया सत्यार्थ प्रकाश का उसका क्या मतलब है कि आकाश को उन्होंने खोल दिया वहां पर अवकाश आकाश का मतलब अवकाश तो यानी एक ही बात हो गई आकाश और अवकाश और आकाश कैसे उत्पन्न हुआ बोले जब सृष्टि बनी उससे पहले सारी प्रकृति और वो परमाणु सतुरस्तम फैले हुए थे तो जब उनको परमात्मा ने इकट्ठा किया कुछ बनाने के लिए तो जब इकट्ठा किया तो वो खाली इधर क्या बचेगा जब ये इकट्ठा कर दिया तो वो खाली जगह जो उत्पन्न हुई है ना ये अवकाश उत्पन्न हुआ ये आकाश अवकाश हुआ तो ये क्या है शून्य है जैसे किसी कमरे में सामान बिखरा पड़ा हो और हमें कुछ और सामान रखना है तो हम उसको एक तरफ करके और थोड़ा जमा जमू करके एक तरफ कर दिया हमने तो अब क्या बोले ये खाली जगह निकल आई तो खाली जगह उत्पन्न हुई अगर अवकाश नहीं होता उत्पन्न तो हो ही नहीं रहा है वो अगर अवकाश को उत्पन्न होना माने तो ये पहले ये पूरी प्रकृति और ये कहां ठहर रही थी कहीं तो ठहर रही थी बिखरी हुई भी, भी थी तो कहीं तो ठहर रही थी जहां ठहर रही थी वही तो अवकाश है तो वो तो इस प्रकृति मूल प्रकृति के रहते समय भी था वो तभी तो ये वस्तुएं उसमें ठहर रही थी इसलिए आकाश तो पहले से ही था आकाश तो उत्पन्न नहीं होता अवकाश तो उत्पन्न नहीं होता ये सिद्ध कर रहे हैं जबकि ये जो शब्द गुण शब्द जिसका गुण है वो आकाश जब हम मानते हैं तो क्या कहते हैं प्रकृति से उत्पन्न हुआ है मूल प्रकृति से प्रक्रिया से होते होते फिर ये बना है तो इन्होंने ये प्रमाण दिया आगे मेरे अनुसार आकाश का स्पर्श गुण होना चाहिए आकाश का कौन सा गुण होना चाहिए स्पर्श गुण वहां क्या लिखा था इन्होंने जिसमें जिसमें न तो शब्द है नहीं जिसमें न तो रूप है न गंध है न रस है न स्पर्श है ऐसा कोई द्रव्य मान सकते चलो मेरे अनुसार आकाश का स्पर्श गुण होना चाहिए क्योंकि तीन गुण स्पर्श वाले हैं ये व्याख्या है आपका वाक्य तीन गुण स्पर्श वाले हैं कौन कौन से ये क्या सोच रहे हैं जैसे कि जैसे गंध है पृथ्वी तो पृथ्वी में स्पर्श भी होता है गंध भी होती है रूप भी होता है जल में रस भी है और स्पर्श भी है रूप भी है यानी स्पर्श भी है और अग्नि में स्पर्श है और रूप है ठीक तो तीन गुण स्पर्श वाले हैं आप कुछ यूं कहना चाहते हो कि गंध रस और रूप ये गुण स्पर्श वाले हैं यानी स्पर्श सहित हैं ठीक है लेकिन ये बात बैठेगी नहीं आपको खुद को अभी समझ में नहीं आएगी कि मैं क्या लिखे क्योंकि तीनों गुण अब ये तीनों और लिख दिया आपने तीन गुण नहीं तीनों गुण यानी जैसे कि तीन गुण हो तीन गुण मतलब आप सतुरस्तम कहना चाह रहे हैं क्या मेरे अनुसार आकाश का स्पर्श गुण होना चाहिए क्योंकि तीनों गुण स्पर्श वाले हैं सत्वर स्तंभ ये कहना चाह रहे हो तो तीनों वो तीनों स्पर्श गुण वाले हैं ठीक है तो उससे जो चीज बनी है वो भी स्पर्श गुण वाली होनी चाहिए ऐसा तर्क है आपका तीनों गुण स्पर्श वाले हैं उसी से अन्य चार भी स्पर्श वाले उत्पन्न हुए चार मतलब आकाश को छोड़ करके जो बाकी के चार भूत हैं आकाश को तो हटा दिया इन्होंने चार जो महाभूत हैं वो भी स्पर्श वाले ही होंगे क्योंकि स्पर्श वाले सत्वर स्तंभ से ये बने हैं उसी से अन्य चार भी स्पर्श वाले उत्पन्न हुए पर आकाश नहीं ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है ऐसा नहीं हो सकता आकाश है तो स्पर्श वाला यदि आकाश है तो स्पर्श वाला ही होना चाहिए क्योंकि स्पर्श वाले सत्वर स्तंभ से जो बना है वो स्पर्श गुण वाला होना चाहिए तो स्पर्श गुण वाले सत्वर स्तंभ से मन पांच कर्म इंद्रिया ये भी उत्पन्न है वो भी स्पर्श गुण वाली हो होनी चाहिए अच्छा ये जो सत्वर स्तंभ है ये गंध गुण वाले भी होंगे ना जैसे आपने सत्वर स्तंभ को स्पर्श गुण वाला माना क्यों क्योंकि कारण गुण पूर्वक कार्य के गुण होते हैं स्वामी जी भी आज सुबह प्रवचन में भी बोल रहे थे कि कार्य में कोई गुण आया है तो वो कारण में भी होगा अगर स्पर्श गुण इनमें आया है तो सतुरस्तम में भी स्पर्श गुण होगा इसलिए इन सब में चारों में स्पर्श गुण है तो इसी तर्क से हम कह सकते हैं कि रूप गुण जो आया है अग्नि जल और पृथ्वी तीन महाभूतों में तो सत्वर स्तंभ में भी रूप गुण होना चाहिए जिस तरह से स्पर्श गुण सत्वर स्तंभ में होना चाहिए जिस हेतु से जिस आधार पे उसी शैली में रूप गुण भी सत्वर स्तंभ में होना चाहिए अभी बात सुनो मेरी पूरी और सत्वर स्तंभ में यदि रूप गुण है तो वायु में भी रूप गुण होना चाहिए क्योंकि उसी से बने जैसे स्पर्श गुण ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय में है ऐसे रूप गुण भी होना चाहिए और यही बात रस और गंध पे भी लगेगी कि रस और गंध भी यदि महाभूतों में है तो वो स्तंभ में भी होने चाहिए और स्तंभ में यदि गंध और रस है तो वायु में भी गंध और रस होना चाहिए है ना और ज्ञानेन्द्रियों में भी ये गुण होने चाहिए पांचों शब्द को छोड़ दो बाकी चार तो होने चाहिए इनके हिसाब से स्वीकार्य है स्वीकार्य है अच्छा तो उसको सिद्ध करना पड़ेगा आपको ऐसे ही वो इतने सूक्ष्म है कि हमें वो उसका रूप वगैरह या उसके दर्द वगैरह हम नहीं ले पा रहे हैं इस फ्रीक्वेंसी कहीं गुना नीचे ये नहीं ये आप दृष्टांत तो, दे रहे हैं दृष्टांत तो, दे रहे हैं लेकिन ऐसा वहां है या नहीं है ये इसमें क्या हेतु है वहां स्पर्श का अनुस्पर्श पद कहा अनुस्पर्श वाला होता है स्पर्श वाला होता है तो उससे जो बनी तो स्वाभाविक स्पर्श वाली ही होगी उस अणु को सत्वर स्तंभ मत ले लो जो न्याय दर्शन में आया है स्पर्शवांश अणु अणु स्पर्शवान है और नित्य है उसको आप इससे मत लो सत्वर स्तंभ को इससे मत लो आप सत्वर स्तंभ की चर्चा ही नहीं है यहां पर न्याय दर्शन में है आई है क्या अभी तक तो नहीं है ये अणु महाभूतों के अणु है वायु से लेकर के जो चार हैं उनके अणु हैं वो तो स्पर्श वाले हैं वायु अग्नि जल और पृथ्वी इन चार के जो अणु परमाणु हैं वो स्पर्शवान है ठीक है अच्छा इंद्रियों को कहीं स्पर्शवान कहा है बुद्धि को क्या कहा है ज्ञान को क्या कहा है किसी और इंद्रिय को स्पर्शवान कहा है नहीं कहा तो उस अणु को आप सत्वर स्तंभ पे तो घटाओगे नहीं घटा ही नहीं सकते आप ये शास्त्र का कार का अभिप्राय नहीं है वहां पर जो अभी मैंने बोला वायु अग्नि जल और पृथ्वी के जो कण है अणु परमाणु उनको ही लेंगे तो तो नहीं अब ये तो ये तो सापेक्ष कथन है इनको अणुओं को जो नित्य कहा जाता है वो इस प्रकृति की दृष्टि से कहा जाता है नित्य है ये प्रकृति की दृष्टि से है सृष्टि की रचना की यहां जो सृष्टि बनी है उससे अंत तक वो बने रहते हैं विद्यमान रहते हैं हमारे शरीरों की तरह इतनी शीघ्रता से नष्ट नहीं हो जाते वो बने रहते हैं लंबे समय तक तत्वतः आप इसको नित्य नहीं कह सकते हैं मन को भी नित्य माना है वैशेषिक में जो कि इसका समान शास्त्र है वायु को नित्य माना है भिन्न संदर्भ में सापेक्षिक आंशिक रूप में ही देखा जाता है वो तो उसी से अन्य चार भी स्पर्श वाले उत्पन्न हुए पर आकाश नहीं ऐसा नहीं हो सकता आकाश है तो स्पर्श वाला नहीं है तो नहीं है यह मेरा अपना मत है स्वयं मनु भी नहीं मानते ये क्या कह रहे हैं मनु भी नहीं मानते क्या नहीं मानते कि शब्द गुण आकाश का है ये मनु भी नहीं मानते मनु भी नहीं मानते हैं शब्द गुण इन्होंने श्लोक दिया मन सृष्टिम विकुरुते चोद्यमान सृशिक्षया आकाशम जायते तस्मात तस्य शब्द गुणम विदु तो उससे आकाश उत्पन्न होता है और उसका गुण शब्द विदुह विदुह पे ये केंद्रित है कि उसका शब्द गुण जानना चाहिए जाना जाता है ठीक है तो इन, इन इस वाक्य से यह कहना चाह रहे हैं ये कि मनु खुद नहीं मानते थे यू नहीं कह रहे कि शब्द गुण आकाश का है <laughs> माना जाता है कहा जाता है <laughs> तो स्वास्थ्य वक्त तो बोले तो ये लिखते हैं विदु से ये पता लगता है कि उनका अपना मत नहीं है तो उसके लिए न्याय दर्शन का एक संदर्भ हम ले सकते हैं परमतम अप्रतिषिद्धम अनुमतम दूसरे का मत यदि हमने उद्धृत किया है तो वो हमारा मत है उसको तो हम प्रतिषिद्ध नहीं कह सकते इसका उपयोग उन्होंने रामपाल जी ने किया है सत्यात प्रकाश में एक जगह है कि अन्य लोक लोकांतरों में भी जीव है सामान्य रूप से बात ठीक है लेकिन वहां जिस भाषा में लिखा गया है उसमें यह होता है कि इस सूर्य पे भी जीव है उसका उन्होंने बहुत खंडन किया है दूरदर्शन पे भी साधना चैनल पे आता रहा है यूट्यूब पे भी था वो आई भी हैं अभी उत्तर देने के लिए अपने पास सोमदेव जी उनका उत्तर देंगे यूट्यूब पे जाएगा या चैनल पे कहीं जाएगा सीढ़ियां बनेंगी तो ये आक्षेप हुए तो साधना चैनल की तरफ से इन लोगों ने ये और चुनौती भी दी कि आध्यात्मिक चर्चा के लिए अन्य मत संप्रदाय के विद्वान भी आमंत्रित हैं जिनको भी इनकी बताई हुई बातों में कुछ भेद दिखता है तो वो कृपया आए चर्चा करें अपनी बात को रखें साधना चैनल के माध्यम से ये करेंगे जैसे शास्त्रार्थ होता है तो आर्य समाज की ओर से उसमें डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी मनुस्मृति वाले जो कि अभी गुरुकुल कांगड़ी के कुलपति हैं और मनुस्मृति के भाष्यकार हैं बहुत पुस्तकें भी लिखी हैं सत्यार्थ प्रकाश पे भी बहुत संशोधन कार्य उन्होंने किया है छपा नहीं है वो लेकिन बहुत बड़ा काम किया है अभी <clears throat> आगे शायद हमारे सामने आए वो मनुस्मृति की तरह विशेष बनी तो काफी उन्होंने मेहनत की है उसमें और एक थे धर्मपाल जी आर साहित्य प्रचार ट्रस्ट के जो अभी प्रधान है अध्यक्ष हैं जो भी हैं मंत्री प्रधान जो, जो भी हैं मुख्य और दिल्ली प्रतिनिधि सभा के मंत्री हैं शायद या उप प्रधान है दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के मंत्री हैं वो दोनों गए साधना चैनल पे प्राणी प्राणी अर्थ है वो प्राणी हाँ, मैंने सुना है उसमें वो कह रहे कि देखो महर्षि लिख रहे कि सूर्य में मनुष्य है मनुष्य शब्द लिया उन्होंने हाँ, तो उसको उस पर उसको पकड़ सकते हैं पर ये थोड़ी दूरी पकड़ सकते हैं वो उनकी थोड़ी टांग खींच सकते हैं कि ये नहीं लिखा पकड़ पकड़ और भी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि और नहीं पकड़ सकते आपने एक बात कही उसको हम पकड़ सकते हैं जो आप कह रहे हो मैं समर्थन कर रहा हूं लेकिन थोड़ी देर ही चल सकता है वो क्योंकि वो कहेंगे जब प्राणी लिखा है तो प्राणी में तो सभी आ गए मनुष्य आदि लिखा हुआ है उन्होंने मनुष्य आदि ही लिखा है बोला है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है तो चलो इस, इस पर विचार कर लेंगे जो भी लिखा है सूर्यादि लिखा है तो उसमें उन्होंने जो खंडन किया उसका उत्तर देने के लिए ये गए थे साधना चैनल पे साधना चैनल वालों ने उसका संचित किया यानी रिकॉर्ड किया कि भी आपको कोई आपत्ति है तो बताओ इन्होंने ये बोला है आपका क्या कहना है इसमें उन्होंने तो दिखा दिया महर्षि दयानंद ने देखो इस इस संस्करण में इस पुस्तक में यहां से छपा है और ये पंक्ति इस पृष्ठ पे ये लिखा हुआ है ये दिखा दिया आलोचना भी कर दी और सुरेंद्र कुमार जी ने फिर वहां उत्तर दिया तो उस उत्तर में उन्होंने सबसे पहले ये वाक्य बोला कि महर्षि दयानंद ने जो ये लिखा है ये शतपथ ब्राह्मण के प्राचीन ग्रंथ से लेकर के उसके अनुसार लिखा है ये उनका महर्षि का मत नहीं है ये सुरेंद्र कुमार जी ने बोला पहला उत्तर ये गया बताओ और उसको उन्होंने रामपाल दास जी ने पकड़ लिया और बिल्कुल ठीक पकड़ा है कि आप ये उत, उसका कुछ समाधान करें आगे उन्होंने कुछ किया भी है उसको भी उन्होंने खैर नकारा है जिस ढंग से उत्तर गया वहां पर पर उन्होंने भिड़ते ही सबसे पहले क्या उत्तर दिया कि ये महर्षि दयानंद का मत नहीं है ये तो शतपथ ऊपर शतपथ ब्राह्मण का पंक्ति दे रखी है उसके बाद में ये वाक्य लिखे हुए हैं जिस इन्होंने आलोचना की बोले ये तो एक प्राचीन हमारे एक प्राचीन ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण में ऐसा लिखा हुआ है उसको महर्षि दयानंद जी उद्धृत कर रहे हैं तो वो साधना चैनल पर वो भी प्रसारित हुआ और वो क्लिप भी है हमारे पास फिर उस पर फिर वो बोले बाद में उन्होंने यही बात पकड़ी बिल्कुल बोले किसी प्राचीन हमारे पूज्य ग्रंथ का वो अपनी गांव की भाषा में हरियाणवी भाषा में बोलते हैं लेकिन बात यही थे कि उसका यदि हम उदाहरण देते हैं तो अपनी किसी बात की पुष्टि के लिए देते हैं आप ये कह के तो ना कह सकते कि शतपथ ब्राह्मणकार ने कहा है महर्षि दयानंद तो केवल उसकी बात कह रहे हैं ये महर्षि दयानंद का मत नहीं है ये वाक्य बोल दिए उन्होंने सुरेंद्र कुमार जी ने ये बोल दिए वहां पर बात छोटी सी है लेकिन जिस मंच पर जाकर के और वहां प्रस्तुत किया जा रहा है आर्य समाज के प्रधान या प्रमुख आर्य समाज के प्रमुख का उत्तर तो पूरी संस्था का प्रतिनिधित्व हो रहा है पूरी संस्था के लिए और दूरदर्शन पे आप दे रहे हैं रिकॉर्डिंग हो रही है और वो प्रसारित हो रहा है तो उसको उन्होंने पकड़ लिया परमतम अप्रतिषिद्धम अनुमतम आप अगर दूसरे का वचन उद्धृत कर रहे हो और आप उसका खंडन नहीं करो आप अनुमत है आपको ये मानना ही होता है आप कर नहीं छोड़ सकते उसको या तो आप उद्धृत कर रहे हो तो खंडन करोगे कि भाई ये वह कह रहा है मैं ये मानता नहीं ये गलत चीज है और यदि आप केवल उद्धृत करके और आगे अपनी बात कहते चले जाते हो तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप उसको स्वीकार कर रहे हो और फिर उन्होंने महर्षि के भी वचनों में आगे बता दिया कि देखो यहां ये लिखा है तो स्पष्ट कहा यह आर्य समाजी लिपापोती कर रहे हैं देखो ये महर्षि देखो ये स्पष्ट यहां लिखा है ये महर्षि दयानंद खुद मानते थे सुरेंद्र कुमार जी ने कहा महर्षि दयानंद ऐसा नहीं मानते थे वो तो शतपथ ब्राह्मण का वाक्य का अर्थ लिख दिया है उन्होंने उन्होंने पहले तो ऐसे खंडन किया और फिर नीचे पंक्ति भी दिखाई देखो ये महर्षि दयानंद खुद मानते थे और वो पंक्ति है महर्षि दयानंद का यही है इसका कैसे खंडन करोगे आर्य समाज के प्रतिनिधि बनकर जो सुरेंद्र कुमार जी गए आर्य समाज के और विद्वानों से चर्चा करके सहमति लेके गए हैं जैसे भी गए हों हरियाणा में मुख्य रूप से हो रहा था हरियाणा वालों ने मिलकर के जो भी किया होगा प्रतिनिधि वो प्रतिनिधि सभा के सदस्य हैं सार्वदेशिक के सदस्य हैं सार्वदेशिक प्रतिनिधि सभा के सदस्य हैं तो ये भी अधिकारी थे और हरियाणा प्रतिनिधि सभा में भी है हरियाणा प्रतिनिधि सभा के भी है क्या है अंतरंग सदस्य हैं और सार्वदेशिक के भी सदस्य हैं जो भी चर्चा हुई होगी लोगों ने कहा होगा जी उत्तर दीजिए इसके जो भी की होगी वो चलो लेकिन मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं जिस व्यक्ति ने न्याय दर्शन नहीं पढ़ा है जिनको हम कहते हैं गंवार हैं बोलना भी नहीं आता ठीक तरह से ये क्लर्क थे जो भी थे जो भी युक्ति थी लेकिन बात को पकड़ा है परमतम अप्रतिषिधम अनुमतम तो आप ये नहीं कह सकते कि मनु ने ये कहा तस्य शब्द गुणम विदुहु तो मनु का ने खुद नहीं माना है कि विदु से यह पता लगता है कि उनका अपना मत नहीं है ये कथन आप नहीं कर सकते यहां पर उन्होंने कहा है खंडन नहीं किया तो उनका मत माना जाएगा नीचे नोट सुरेंद्र जी का प्रमाण द्रष्टव्य है देख लिया पढ़ लिया सत्यात प्रकाश में प्रश्न के रूप में यह बात कही गई है ये क्यों लिखा प्रश्न के रूप में कही गई है प्रश्न प्रश्न क्या है प्रश्न किसका है प्रश्न किसका है वो पूर्व पक्षी का वाक्य है आप क्या प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हो या सुरेंद्र जी ने जो प्रमाण प्रस्तुत किया कि सत्यात प्रकाश में ये वाक्य लिखा है क्या मतलब है इसका गलत हो क्या मतलब है इसका ये महर्षि दयानंद का मत है हाँ। और आप भी उद्धृत कर रहे हो उसको नहीं मैंने कहा हुआ ये तो आपने अंत में कहा है कि प्रश्न रूप में कहा है यदि यदि आपके मन में ये होता है कि ये वाक्य तो पूर्व पक्षी का है पूर्व पक्षी ने कुछ कहा है उसको आप महर्षि का मत थोड़ा मान सकते हो उसका खंडन कर रहे हैं आगे तो पूर्व पक्षी की बात को न्याय दर्शन अभी आप शायद नहीं बोलते इस तरह से कि जब ये महर्षि का वचन ही नहीं है आपने यहाँ किस रूप में प्रस्तुत किया है इसको मैंने इसलिए तो बोला सुरेंद्र जी ने ऐसा कहा संदेह ये संदेह संदेह हो रहा है लेकिन आपके न्याय दर्शन की दृष्टि से आप देखते सुरेंद्र जी ने कहा तो कहा ये महर्षि का वचन नहीं है ये महर्षि का मंतव्य नहीं है किसी ने कह दिया ये महर्षि का वचन है और हम मान लेंगे कि हाँ ये महर्षि का वचन है न्याय दर्शन वाला तो नहीं मानेगा आप भी अब जो नए दर्शन नहीं पढ़ते हैं ये बिंदु जब बता दिया गया तो आपको स्वीकार्य होगा क्या ये प्रश्न पूर्व पक्षी की तरफ से उठाया गया है पूर्व पक्षी का कथन है बिल्कुल ये कि ये बात अग्निव्रत जी नैष्ठिक ने भी प्रस्तुत की थी उनके बीच में मेरे भी आकाश के बारे में चर्चा चली थी जैसे आप लोगों के पास चली है वो भी आकाश को कोई मानते नहीं है आधुनिक दृष्टि से सहमत है कि आकाश यानी अवकाश शून्य कुछ भी नहीं है वो और उसी का ही गुण भी मानते हैं शब्द को ऐसा मेरे को ध्यान आ रहा है ताकि नहीं अवकाश आकाश को भी मान सकते हैं वो भी है लेकिन आकाश जो प्रकृति से बना है उसको भी हमारे शास्त्र तो मानते हैं हम अभी सिद्ध नहीं करते हैं एक अलग बात है लेकिन हमारी पूरी परंपरा मानती है इसको महर्षि दयानंद भी मानते हैं और वेद का प्रमाण भी था वो और शब्द गुण उसी आकाश का होना चाहिए जो प्रकृति से बना है उस प्रसंग में उन्होंने भी बातचीत में इसी वचन को उद्धृत किया था हमारे शायद कुछ पत्र व्यवहार भी हुए थे उन्होंने लिखा भी था बिल्कुल यही वाक्य लिख उन्होंने कहा था देखो ये महर्षि भी मानते हैं ये कहिए बिल्कुल ये कहिए अच्छा उन्होंने भी हो सकता है उधर तो इतना ध्यान नहीं जाता है कई बार और वो संस्कृत का भी वहां पर एतस्मात व आत्मना आकाशाद एतस्मात व आत्मना आकाश संभुता आकाशाद वायु वायु और अग्नि और ऐसे कुछ वहां पर वो वचन भी दे रखे हैं उपनिषद के और हो सकता है मनुस्मृति में जैसे ये लिखा हुआ है सुरेंद्र जी ने नीचे वहीं से ले लिया होगा आकाश का मनुस्मृति का भी देखा होगा और ये भाई महर्षि ने लिखा है और महर्षि का मान करके और लिख दिया मेरे को प्रमाण दे दिया मैंने तब भी ये आज से दस बारह साल पहले की बात होगी तब उन्होंने कहा कि ये वचन तो महर्षि का है ही नहीं आप ये प्रमाण रूप में दे कैसे सकते हो आप इसको महर्षि का प्रमाण मान करके कह रहे हो ये प्रश्न के रूप में है हो सकता है प्रश्न की कुछ बातें भी सहमति हो लेकिन आप इसको यूं उद्धृत नहीं कर सकते कि ये महर्षि का मत है अब इस वाक्य पर फिर विचार करो क्या ये महर्षि का हमने बहुत कुछ पढ़ रखा है क्या ये वचन ठीक है यह हमारे अन्य शास्त्रों से सम्मत है उस परमेश्वर और प्रकृति से आकाश अवकाश अर्थात जो कारण रूप द्रव्य सर्वत्र फैल रहा है उसको इकट्ठा करने से अवकाश उत्पन्न होता है फिर से पढ़ना देखो वाक्य का अर्थ देखो उस परमेश्वर और प्रकृति से आकाश अर्थात अवकाश उत्पन्न होता है बीच का वाक्य मैं हटा रहा हूं उस परमेश्वर और प्रकृति से आकाश अवकाश आकाश अर्थात अवकाश उत्पन्न होता है अर्थात बीच वाला बोल रहा हूं आकाश अवकाश अर्थात जो कारण रूप द्रव्य सर्वत्र फैल रहा है कारण रूप द्रव्य यानी मूल प्रकृति सतवस्तम प्रलय अवस्था में जो फैली हुई है उसको इकट्ठा करने से अवकाश उत्पन्न होता है कि सामान को इकट्ठा कर दिया तो उधर रिक्त स्थान हो गया ऐसे उत्पन्न होता है वास्तव में आकाश की उत्पत्ति नहीं होती वास्तव में आकाश की उत्पन्न नहीं होती वो तो सामान को इकट्ठा किया मूल प्रकृति के कारण द्रव्यों को इकट्ठा किया तो वो रिक्त जगह हो गई बस यही आकाश का उत्पन्न होना है वास्तव में कोई आकाश उत्पन्न थोड़ा हुआ है क्यों उत्पन्न नहीं मान सकते कोई कह सकता है कि भाई ये सामान इकट्ठा किया गया तो ये जो बचा ये आकाश उत्पन्न हो गया ना तो उसका उत्तर आगे दिया क्योंकि बिना आकाश के प्रकृति और परमाणु कहां ठहर सके भाई आपने इकट्ठा किया और फिर कह रहे हो कि आकाश उत्पन्न हो गया वास्तव में तो ये उत्पन्न ही नहीं हुआ क्योंकि ये तो पहले से ही था अगर वो पहले से नहीं होता तो ये प्रकृति के परमाणु कहां ठहरे हुए होते यानी कहीं ठहरे हुए तो थे ना जहां कहीं ना कहीं ठहरे हुए थे यानी अवकाश तो पहले से था इसको इकट्ठा करने से ये जो खाली जगह हुई है कोई अभी थोड़ा ना उत्पन्न हुई है वो परमाणु वहां थे इसी से सिद्ध हो रहा है कि वहां पहले से अवकाश था तभी तो ये थे वहां पर अर्थात आकाश उत्पन्न नहीं होता ये अभिप्राय है क्या महर्षि का ऐसा अभिप्राय हो सकता है क्या दर्शनों का ऐसा अभिप्राय है तो इसको हम देखो <laughs> <laughs> आकाश अवकाश से आशा है निराशा खैर अब आपको बहुत सी चीजें तो आपको पता लग रही होगी अभी और भी न्याय दर्शन पढ़ेंगे और भी जो दिमाग की घिसाई होगी ना तो से पता लगने लगता है स्वयं अपने को पता लगता है कि देखो कैसे लिखा है और दूसरों का लिखे हुए में एकदम से पता लगेगा कि देखो ये संगत है ये नहीं है ये कहां गड़बड़ कर गया एकदम से पता लगेगा जितना न्याय दर्शन अच्छा पड़ा होगा एकदम पता लगेगा कि ये सामान्य व्यक्ति भी जो समझदार है उसको भी पता लगेगा बिना न्याय दर्शन पढ़े लेकिन अगर ये क्षमता विकसित नहीं है तो न्याय दर्शन पढ़ करके काफी कुछ विकसित हो जाती है किसी की कम किसी की अधिक लेकिन विकसित होगी एकदम से पता लगेगा नहीं ये चीज है ये चीज है और अगर हमने वो नहीं पढ़ा होता और हमारी समझ नहीं होती तो यूं तो लगता रहता कुछ पता नहीं कैसा लिखा है समझ में नहीं आया ये नहीं हम कहने का साहस कर सकते थे ये गलत लिखा हुआ है और जब हमें सारा स्पष्ट हो कि नहीं यहां ये होना चाहिए यहां ये होना चाहिए ये लिख दिया है ये गलत है किसी ने भी कहा वहां व्यक्ति फिर सामने नहीं रहे हाँ हाँ रविशंकर जी आप क्या कह रहे थे उस समय हाथ खड़ा कर रहे थे हाँ पूर्व पक्षी क्या मत है लेकिन आप ये स्थिति देखो मैंने दो विद्वानों का बताया वो ऐसा नहीं कह सकते कि उन्होंने शास्त्रों को नहीं पढ़ा है उन्होंने महर्षि दयानंद को नहीं पढ़ा है बहुत लेख भी लिखते हैं तो चर्चाएं भी करते हैं लोगों के उत्तर भी देते हैं खंडन मंडन भी करते हैं खूब करते हैं उसमें कम नहीं है खूब करते हैं लेकिन फिर भी ऐसा हो जाता है ऐसा आप और हमसे भी हो सकता है कभी सावधान नहीं रहे तो और सावधान रहे तो हमारे को स्पष्ट है कि ये आनी है नहीं आनी अगर हम <clears throat> असावधानी से गलत गलत चीजें देंगे तो सामने वाला पकड़ लेगा कोई बुद्धिमान और हमारे को खंडित कर देगा हमें हम सोच समझ के रख रहे हैं ऐसा रखें कि सामने वाले को अवसर ही नहीं मिलेगी यहां उंगली तो डाला डाल दे वो कोई छेद तो कर दे वो वही धराशयी शुरू में ही धराशयी हो जाएगा वो आक्रमण ही नहीं कर सकता हमारी प्रस्तुति ऐसी हो कि कुछ भी नहीं कर सकता वो छिद्र नहीं छोड़ेंगे हम और मान लो कहीं कुछ थोड़ा बहुत करता है तो थोड़ी सी देर में टकरा के हो जाएगा जैसे कि दीवार पे टकरा के आदमी गिर जाता है उसी समय खंडित हो जाता है आगे बढ़ ही नहीं सकता वो घुसेगा कहां से हमने इतनी मजबूती से अपनी बात को रखा है युक्ति संगत रखा है ये जो जितना अच्छा करता है तो दूसरा घुस नहीं सकता उसके वही धराशयी हो जाएगा गति नहीं कर सकता वो थोड़ा बहुत करेगा धक्के भी मारेगा तो कुछ नहीं टकरा टकरा के गिर जाएगा खत्म खंडित हो जाएगा उसी समय हम्म हम्म। तो दस बारह साल पहले अग्निव्रत जी के साथ ये मानुस्मृति का है तो सुरेंद्र कुमार जी का है हाँ, दस बारह साल पहले आपके सामने प्रसंग तो उन्होंने मनुस्मृति का नाम थोड़ा लिया था उस समय उन्होंने तो सत्य प्रकाश का लिया था मेरे को ये तो मैं अभी संभावना कर रहा हूं एक तो ये तो मैंने संभावना में वाक्य बोला था हो सकता है उन्होंने मनुस्मृति भी में भी वो देखा हो और फिर नीचे ये लिखा होगा तो वो कब उठा के उन्होंने दे दिया होगा ऐसा हो सकता है मेरे को नहीं पता उन्होंने कहां से लिया स्वयं भी ले लिया हो उन्होंने वहां से कैसे भी लिया हो पर फिर उनको जब बताया उसके बाद फिर उन्होंने उस और उसका कोई उत्तर तो होता ही नहीं है इसका कोई क्या उत्तर देगा कि भाई ये तो प्रश्न का है महर्षि के मत के रूप में आप कैसे दे रहे हो आप कैसे सिद्ध करेगा कि ये महर्षि का मत है वैसे भी विरुद्ध मत है ये तो मेरा मुख्य प्रश्न था जो यही था कि स्वामी दयानंद जी भी आकाश को नहीं मानते वो भी वही हुआ पर आप ये कैसे कह सकते हो कि महर्षि दयानंद नहीं मानते आप इसको इस वाक्य को महर्षि दयानंद की के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर रहे हो ना तब आप कह सकते हो में नहीं तो मैं पहले मनुस्मृति को ही देखा था क्योंकि पहले हाँ। पढ़ा तो उसी में देखा होता है तो मैं सोचता था कि संविधान जैसे ठीक है उसमें देखो अच्छा यही रहता है कभी हम लेख भी लिखते हैं करते हैं तो कभी कोई दूसरे को के द्वारा उद्धृत वचन देखते हैं ना अच्छा ये रहता है कि हम खुद मूल में जाकर के देख लें दूसरे हाथ से जो हम प्रमाण लेते हैं ना उसमें त्रुटियां हो सकती हैं उद्धरण जो होते हैं ना द्वितीय उद्धरण सेकंड रेफरेंस बोलते हैं उसको सीधा रेफरेंस फर्स्ट रेफरेंस जहां उन्होंने कहा है कि वेद में ऐसा लिखा तो उठा के देखो वहां ये एक सावधानी है समय तो लगता है इसमें लेकिन कई त्रुटियों से हम बच जाते हैं जैसे एक ये है ऐसा बहुत बार होता है जहां तक हो सके कोई उद्धृत करता है कि महर्षि ने वहां ये लिखा है उस पुस्तक को उठा के देखो कि महर्षि ने वहां लिखा है या नहीं लिखा है और किस संदर्भ में लिखा है कई जगह तो आपको उसी में हो जाता है नहीं तो सामने वाले ने उद्धृत किया कि ये महर्षि ने वहां लिखा है ये लिखा है लिखा है हम सोचेंगे हाँ लिखा है हम आलस्य कर गए देखा नहीं तो उसकी बात सिद्ध हो जाएगी पीछे योग के बारे में लेख आया था कि महर्षि ने देखो योग का यहां खंडन किया यहां खंडन किया पुनः प्रवचन में ये कहा है और उसको देखो तो पढ़ने वाला यही देखेगा कि महर्षि ने यहां ये खंडन किया खंडन किया ये गलत थोड़ा ना देंगे महर्षि के वचन ही तो उद्धृत कर रहे हैं और पुनः प्रवचन देखो तो उसके आगे पीछे क्या लिखा है वो देखो ना उसको देखते ही वो खंडित हो गया एक बहुत एक मूल बात है है छोटी सी बात मैं इसका प्रयास करता हूं ध्यान रखता हूं कि किसी ने कोई बात लिखी है तो भले ही देर पड़ लगे पुस्तक ढूंढेंगे मिलती है तो पूरी कोशिश करें कि देख करके वहां वैसा लिखा है नहीं लिखा है क्या प्रसंग था वास्तव में यही अर्थ में वो लिखा है नहीं लिखा है तो कई बार तो वो दूसरे के प्रमाण यूं ही खंडित हो जाते हैं ये तो इस प्रसंग में है ही नहीं इसका तो अर्थ दूसरा था और फिर भी अगर लिखा है तो फिर मान लेते हैं जैसा भी होता है लेकिन प्रथम दृष्टिया जिस ग्रंथ का हो उस ग्रंथ को एक बार हम देखें यदि आप अच्छे स्तर पर लेख लिखना चाहते हैं अच्छे स्तर पर बोलना चाहते हैं प्रमाणिक कि खंडित नहीं हो हम दूसरे से अब बाद में ये कहने से काम नहीं चलेगा कि, कि उन्होंने कहा था कि महर्षि दयानंद ने ऐसा लिखा है ये कह करके आप अपनी ज्यादा कुछ बचा नहीं सकते ये आप अपने स्तर को बता रहे हो आप ये कह के बच लो कि नहीं जी सुरेंद्र कुमार जी ने ये लिखा है कि महर्षि का वचन है इससे आप अपनी ज्यादा रक्षा नहीं कर सकते ठीक है उन्होंने कह दिया गलती हो जाती है आप क्यों मान रहे हो उसको मूल में मूल को देख करके भले ही समय लगता है श्रम लगता है लेकिन सुखद बहुत होता है कितनी जगह मेरे को अनेक बार लगता है कई बार होता है कि भाई बहुत हो तो रहा है जल्दी देना है लेखन नहीं देखो फिर भी नहीं देखना है वो देखो बिना देखे मैं लिख देता तो ये क्या गलत चला जाता कितनी जगह ऐसा अनुभव में आता है कभी थोड़ा आलस्य लगता हो कि चलो चलने दे होगा ही ये तो है स्मरण भी आता है हाँ ऐसा है कई बार ऐसी हो बच जाते हैं ऐसे कई बार त्रुटि होते होते कि नहीं चलो कोई बात नहीं फिर भी देख लेते हैं मन में लग रहा है कि हाँ ऐसा ही लिखा है फिर भी नहीं चलो एक बार देख लेते हैं तो और नई बात भी सूझ जाती है और हम त्रुटि से भी बच जाते ठीक है इतना अवकाश बहुत है